जे रामेश्वर दर्शन करिहहि ते तनु तजि मम लोक सिधरहि जो गङ्गा जल आनु सो सायुज मुक्ति नर पावहि काम छल तज सेय भगति मूर्त ही शंकर दे मम कृत से तुझ दर्शन करहे सो बिनु श्रम भव सागर तरही जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए हुए श्वेतु का दर्शन करेंगे वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे राम बचन सबके जिय भाई मुनिबर निज निज आश्रम आए गिरजा रघुपति कय हरीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति बांधा से तु नील नल नागर राम कृपा जसु भय उजागर बूढ़िया नहीं बोरहि जे भय उपल बोहित समते श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए शिव जी कहते हैं हे पार्वती श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं चतुर नल और नील ने सेतु बांधा श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए महिमा यह न जलधि कै बरने पाहन गुण न कपिन कै करणी श्री प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते ज राम तजे भज जाय प्रभुआ यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है न पत्थरों का गुण है और न वानरों की ही कोई करामात है श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भसते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं से सेतु अति सुदृढ़ बनावा देख कृपा निधि के मन भावा चली से न कछु बरनी न जाए मर कट भट समुदाय सेतु बंध ढिग चढ़ रघुराए चितव कृपाल सिंधु बहुताए देखन कह प्रभु करुणा कंदा प्रगट भये सब जल चर वृंदा नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए जल के ऊपर निकल आए मकर नक्र नाना यश ब्याला सतजो जन तन परम विशाला ऐसे एक तिन्हते खाहे एकन के डरते पिडराहे प्रभु ही बिलो कहीं तरहि न टारे मन सित सब भय सुखारे तिनके न देखिय बारे मगन भये हरि रूप निहारी बहुत तरह के मगर नाक घड़ियाल मच्छ और सर्प थे जिनके सौ सौ योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे वे सब वैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं हटाने से भी नहीं हटते सबके मन हर्षित है सब सुखी हो गए उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए चला कटक प्रभु आय सुपाई को कही सक कपिदल विपुलाई सेतु बंध भय भी कपिनभ पंथ उड़ाहि अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार जाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली वानन सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हो गई इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं